परम पिता परमात्मा का स्मरण सबको नियंत्रण में रखने वाले परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक मनुष्य परमात्मा के दिए हुए साधनों का उपयोग करता है उन साधनों में मन भी एक महत्वपूर्ण साधन है मन किस प्रकार का है और उसे हमें कैसा बनाना है मन किस प्रकार होना चाहिए किस प्रकार से चलाने पर वो हमारे लिए हितकारी हो सकता है ये बात आज के मंत्र में कही गई है ये मंत्र है यजुर्वेद के चौतीसवें अध्याय का पहला मंत्र और आर्य अभिविनय के द्वितीय प्रकाश में तैतालीसवीं संख्या पर उद्धृत है मंत्र है यज्ञाक्रतो दूरमुदयति दैव तदुसुप्त तथा दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेक तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु प्रार्थना का भाग अंत में है तन में मन वह मेरा मन शिव संकल्पम शिव संकल्प वाला अस्तु होवे परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है और वो मन कैसा है ये मंत्र के बाकी अंशों में बताया गया महर्षि दयानंद प्रार्थना के लिए परमात्मा को संबोधित करते हुए लिखते हैं हे धर्म निरुपद्रव परमात्मन परमात्मा का विशेषण दिया धर्म निरुपद्रव महर्षि प्राय वो संबोधन देते हैं जिस तरह की प्रार्थना कामना उस मंत्र में या आगे के वर्णन में व्याख्यान में होती है परमात्मा धर्म स्वरूप है धारण करने वाला है अन्यों को धारण करता है और उचित ही सब कुछ करता है और इसलिए वो निरुपद्रव भी है कुछ उत्पात नहीं करता कुछ हानि नहीं करता धर्म के कार्यों को करता हुआ धर्म पूर्वक प्राणियों के लिए व्यवस्था करता हुआ वो स्वयं अपने आप में उपद्रव से रहित है न तो दूसरों के लिए उपद्रव करता है हानि करता है और न अपने आप में उपद्रव से युक्त होता है शांत और स्थिर बना रहता है ऐसे परमात्मा को संबोधित किया गया चूंकि मन शिव संकल्प करना है हमें तो वो धर्म को धारण करेगा और फिर निरुपत्र होगा दूसरे शब्दों में यदि मन में अधर्म हो तो वो उपद्रव से युक्त होगा वो स्वयं अति चंचल और अव्यवस्थित होगा और दूसरों को भी वो हानि पहुंचाएगा आत्मा के लिए भी वो हानिकारक होगा तो जो धर्म से निरुपद्रव है धर्म की पालना करते हुए धर्म के अनुरूप चलते हुए जो निरुपद्रव है ऐसे परमात्मा को संबोधित किया गया क्योंकि तो हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं शिव संकल्प का अर्थ करते हुए भी महर्षि लिखते हैं मेरा मन सदा शिव संकल्प अर्थात धर्म कल्याण संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो कभी अधर्मकारी ना हो शिव संकल्प को महर्षि धर्म और कल्याण के साथ में जोड़ रहे हैं शिव का एक अर्थ कल्याण होता है जिसे हम चाहते हैं जिससे हमारा भला होता है उन्नति होती है हित होता है वो शिव है लेकिन महर्षि उसके साथ में धर्म शब्द को जोड़ रहे हैं धर्म कल्याण संकल्पकारी क्योंकि महर्षि ये देखते हैं कि कल्याण तभी हो सकता है जब हम धर्म से युक्त हों और कल्याण का मतलब है निरुपद्रवता अधर्म होगा तो अकल्याण होगा अधर्म होगा तो उपद्रव होगा इसलिए धर्म कल्याण संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो कभी अधर्मकारी ना हो जो अगला वचन भी दे दिया उससे भी पता लगता है कि अधर्मकारी ना हो अर्थात अधर्म युक्त तो होगा तो वो कल्याणकारक कभी नहीं होगा और ये मन कैसा है तो मंत्र के प्रारंभ से उसका वर्णन आया यत जागृत दूरम उत एति जो जागता हुआ जागृत अवस्था में सक्रिय रहता हुआ दूर दूर तक पहुंच जाता है दूर दूर जाता है और दूर दूर से फिर हमारे पास भी आता है दूर का यहां पर मतलब है अपने से भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त होना मन से जैसे अंदर की बातें पता लगती हैं मन का विषय अंदर का भी होता है स्वयं अपना भी होता है आत्मा का भी विषय होता है और निकटता से देखें तो अपनी इंद्रियां और शरीर का भी विषय होता है लेकिन उससे बाहर का बाह्य जगत का अन्य व्यक्तियों का वस्तुओं का वृक्ष वनस्पति का लोक लोकांतरों का विषय भी उसका होता है देश देशांतरों का विषय भी उसका होता है तो मन जागते हुए दूर दूर के विषयों को चिंतन करता है दूर दूर के बातों को दूर दूर की वस्तुओं को विषय बनाता है यहां मन के जाने का जो कथन है उसकी एक व्याख्या लोग ये करते हैं कि मन स्वयं दूर दूर तक चला जाता है वस्तु के रूप में द्रव्य के रूप में जैसे कि कोई वाहन या विमान आदि दूर चले जाते हैं पक्षी दूर चला जाता है ऐसे मन भी इस शरीर से निकल करके दूर दूर चला जाता है ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं क्योंकि सीधे सीधे पंक्तियां उसी तरफ संकेत कर रही हैं लेकिन दूसरा इसका अर्थ है कि मन रहता तो शरीर में ही है वो सूक्ष्म शरीर का भाग है आत्मा के साथ ही रहता है लेकिन दूर दूर के विषयों को वो सोच सकता है उन पर चिंतन कर सकता है विचार कर सकता है हम अपने संकल्प से स्मृति से जहां बैठे हैं उससे भिन्न स्थानों पर भी मन को ले जा सकते हैं अर्थात मन में दूर दूर के विषयों को सोच सकते हैं लेकिन मन यही रहता है मन हमारे अंदर ही रहता है तो यद जागृतो दूरम उदयती जो जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न दूर दूर के विषयों का भी हमें बोध कराता है विचार कराता है तदु सुप्त से तथा इति वह ही वही मन सोते हुए सुप्त अवस्था में भी तथैव एति उसी प्रकार से दूर दूर जाता है सोते हुए भी हम विभिन्न विचारों को करते रहते हैं स्वप्न देखते रहते हैं और वो भी भिन्न भिन्न विषयों के होते हैं आत्मा अपने से संबंधित और अन्य व्यक्तियों से संबंधित और विभिन्न देशों से संबंधित विचार जैसे ही चिंतन जैसे ही होते हैं अर्थात सुप्त अवस्था में भी मन सक्रिय रहता है और ये मन कैसा है दैवम देव के लिए अर्थात आत्मा के लिए वो हितकर है आत्मा का वो सबसे मुख्य साधन है आत्मा के हित की दृष्टि से ही उसे बनाया गया है तो मन जो जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न विषयों का चिंतन करता है और सोते समय भी विभिन्न विषयों का चिंतन करता है ये सब आत्मा के हित के लिए करता है इस सब में आत्मा का हित होता है बहुत सारे विषय हमें विचारने होते हैं निर्णय लेने होते हैं वो बिना मन के नहीं हो सकते बिना अंतकरण के नहीं हो सकते इसलिए दिन में तो हमें उसकी आवश्यकता प्रतीत होती ही है लेकिन स्वप्न अवस्था में भी निद्रा अवस्था में भी जो हमारे विचार चलते रहते हैं हम विभिन्न दृश्यों को देखते हैं विभिन्न घटनाओं को घटित होता हुआ जैसा देखते हैं वो भी हमारे मन के लिए हमारे अंतःकरण के लिए हितकर होता है ये उसका कार्य है जिन चीजों का विचार और विश्लेषण हम दिन में नहीं कर पाते वो रात को भी चलता रहता है और जिन चीजों को हम दिन में अभिव्यक्त नहीं कर पाते वो बहुत सी चीजें रात्रि में अभिव्यक्त हो जाती हैं वो प्रकट हो जाती हैं यदि कोई मनुष्य निद्रावस्था में स्वप्न न देखे तो वो स्वस्थ नहीं कहलाता वो स्वस्थ रह भी नहीं सकता वैज्ञानिकों के अनुसंधान ये है कि स्वप्न तो सबको आते हैं पशुओं पे भी प्रयोग किए गए वे भी स्वप्न देखते हैं और नई खोज ये है कि जिनका आईक्यू अधिक होता है अधिक बुद्धिमान होते हैं अंतःकरण जिनका अधिक सक्रिय होता है प्रखर होता है उनको स्वप्न अधिक आते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं कम बुद्धि वाले होते हैं उनको स्वप्न कम आते हैं अर्थात जिनका मन मस्तिष्क दिन में अधिक सक्रिय रहता है उनका निद्रा काल में भी अधिक सक्रिय रहता है बहुत सारे ऐसे समाधान होते हैं जो हमें रात्रि में रात्रि से उठने के बाद में उसका समाधान मिलता है हम विभिन्न समस्याओं को सोचते हैं समाधान प्राप्त करना चाहते हैं विचार करते हैं विचार करते करते हम सो जाते हैं थक करके और सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही समाधान हमें प्रतीत हो जाता है अपने आप जैसे समाधान आ गया हो अथवा कुछ देर बाद में आ जाता है ये कैसे हो पाता है क्योंकि जो कार्य हमने दिन में मस्तिष्क को मन को दिया है वो अंदर भी करता रहता है चलता रहता है परमात्मा ने मन को बनाया ही ऐसा है कि वो सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है भिन्न भिन्न विषयों को सोचता है ये उसका स्वभाव है परमात्मा ने ही उसको ऐसा बनाया है अनेक बार दुस्वप्नों से बचने की कामना हमारी रहती है और वो होनी भी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ एक भावना और जुड़ जाती है कि हमें कोई भी स्वप्न ना आए और हम इसी चिंता में लगे लग जाते हैं कि मुझे स्वप्न आया इसका मतलब है नींद ठीक नहीं आई और उसी की चिंता करते रहते हैं विचार तो निद्रा में आएंगे ये उसका स्वाभाविक स्वरूप है हमें अधिकांश स्वप्न स्मरण नहीं रहते उठते ही हम उनको भूल जाते हैं रात्रि में भले ही स्वप्न देख रहे हों ये तो हमें ध्यान आता है कि हम कुछ स्वप्न देख रहे थे लेकिन क्या देख रहे थे वो ध्यान नहीं रहता लेकिन जो गहरे स्वप्न होते हैं गंभीर होते हैं वो उठने के बाद भी जू के तू ध्यान रहते हैं लेकिन सब नहीं रहते अधिकांश स्वप्नों को हम उठने के बाद में स्मरण नहीं रख पाते तो ये प्रक्रिया तो वहां चलती ही है आयुर्वेद में निद्रा को स्वप्न शब्द से ही कहा गया निद्रा भी नाम है लेकिन उसका एक नाम स्वप्न भी है जिस स्वप्न को हम सपने या विभिन्न मानसिक घटनाओं के रूप में देखते हैं विचार के रूप में देखते हैं निद्रा काल में उसका नाम स्वप्न रखा गया लेकिन भेद भी हमारे यहां शास्त्रों में मिलता है एक सुषुप्ति होती है जो गाढ़ निद्रा है जिसमें कि स्वप्न नहीं आते और एक निद्रा का वो भाग है जिसमें स्वप्न आते हैं ये दोनों अनिवार्य है और आधुनिक विज्ञान से भी ये बात पुष्ट होती है कि हम बीच बीच में स्वप्न देखते हैं फिर सुषुप्ति में चले जाते हैं गाढ़ निद्रा में फिर स्वप्न देखते हैं फिर गाढ़ निद्रा में चल जाते हैं इसके अपने क्रम चलते हैं व्यवस्था से वो चलता रहता है अलग अलग चरण चलते रहते हैं अरे ये सब में होता है तो ये सामर्थ्य परमात्मा ने मन में दी है वो ऐसा ही चलेगा तो यद जागृतो दूरम उदयती दैवम तत् सुप्त तथैवती लेकिन ये मन कब आत्मा का हितकारी हो परमात्मा ने तो आत्मा के हित के लिए ही बना करके दिया है लेकिन ये आत्मा का हमारा अहित भी कर सकता है उसी के लिए यहां पर प्रार्थना की गई तो हमारा मन सदा दैव हो आत्मा के लिए हितकर हो मन के लिए और बात कही दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति ही एकम वो मन एक ही है हमारे एक एक शरीर में एक एक मन है बहुत से व्यक्ति मन के विभिन्न विचारों को देखते हुए ऐसा कथन करते हैं कि जैसे बहुत सारे मन हो एक मन जाने का कर रहा है एक मन न जाने का कर रहा है असमंजस की स्थिति तो वहां मन का मतलब मात्र विचार होता है उसका यह मतलब नहीं कि अनेक मन अंदर हों वेद का स्पष्ट निर्देश है कि मन तो एक ही है लेकिन उसके विचार भिन्न भिन्न होते हैं कभी एक विचार प्रबल होता है कभी दूसरा विचार प्रबल होता है क्योंकि उसको वैसा ही ज्ञान है अंदर उसके अंदर जो ज्ञान का संस्कार पड़ा हुआ है छाप पड़ी हुई है वो दोनों तरह की है उस कार्य में हित भी देख रहा है लाभ भी देख रहा है और कुछ हानि भी देख रहा है इसलिए जब जिसका पलड़ा भारी होता है उस तरफ झुकने लगता है अथवा दोनों तरफ देखता है तो दोनों तरह की बातें मन में आती रहती हैं तो वो एक है साथ ही कहा वो एक मन दूरंगमम दूर दूर तक जाने के स्वभाव वाला है दूर दूर की सोचता है दूर दूर के विषयों को उठाता है ये उसका स्वभाव है यदि मन दूर दूर की बातों को न सोचता हो भिन्न भिन्न विषयों को न सोचता हो तो ये हमारे लिए उतना हितकारी नहीं हो सकता था मन का ये गुण दूर दूर तक जाना दूर दूर के विषयों को सोचना देश की दृष्टि से और काल की दृष्टि से भी महर्षि ने भाष्य में लिखा है कि जो भूतकाल भविष्यत काल और वर्तमान काल तीनों को तीनों का जाता है काल की दृष्टि से भी दूर दूर की बातें पिछली बातें और भविष्य की बातें इसके द्वारा स्मरण की जाती हैं विचार की जाती हैं और वर्तमान की तो हम करते ही हैं यदि मन में ये गुण स्वभाव न होता तो हमारे लिए हितकर नहीं हो सकता था तो दूरंगमम आगे कहा ज्योतिषाम ज्योति ही जो प्रकाशक हैं उनको भी प्रकाशित करने वाला उनको भी जनाने वाला ये है ज्योतियों का अर्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं एक तो सूर्य आदि ये भौतिक ज्योति जिनकी है भौतिक प्रकाश जिनमें है उनको जनाने वाला जितने भी चमकदार लोक लोकांतर हैं उनका ज्ञान मन के माध्यम से हो सकता है इसलिए ये उन ज्योतियों की भी ज्योति है दूसरा ज्योति का अर्थ किया इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया भी ज्योति स्वरूप है क्योंकि वो हमें ज्ञान कराती हैं उनका भी जानने वाला ये मन है उनको भी जनाता है ज्ञानेन्द्रियों से जो हमें प्राप्त होता है उसको वो जानता है और आत्मा तक पहुंचाता है और तीसरा कहा अग्नि अग्नि ज्योति है जो भी ऊर्जा प्रकाश की स्थितियां हैं उन सबको भी ये जानने वाला है तो अग्नि सूर्यादि और श्रोत्रादि इंद्रिय इन प्रकाशकों का भी जो प्रकाशक है अर्थात मन के बिना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं होता एक बड़ा सिद्धांत बताया बिना मन के आत्मा इन सब चीजों को नहीं जान सकता ये मन आवश्यक है उसके लिए आगे महर्षि लिखते हैं वह एक बड़ा चंचल वेग वाला मन मन एक है और बड़ा चंचल है बहुत अधिक गतिशील है और वेग वाला भी है बड़ी तीव्रता से चिंतन करता है बड़ी तीव्रता से एक विषय से दूसरे विषय तक जाता है ऐसा मन आपकी कृपा से स्थिर हो जाए जिस विषय में हम टिकाना चाहते हैं उस विषय में टिक सके यद्यपि चंचलता उसका एक दुर्गुण प्रतीत होता है उसकी गतिशीलता है गतिशील तो वो है गतिशीलता की उसकी सामर्थ्य है और वो होनी भी चाहिए लेकिन जब हम जिस विषय पर रोकना चाहें वहां वो रुक भी सके इसलिए कहा कि वो स्थिर हो शुद्ध हो दुर्भावनाओं से रहित हो धर्मात्मा हो धर्म की तरफ बढ़ने की ही जिसकी प्रवृत्ति हो और विद्या से युक्त भी हो ज्ञान से युक्त भी हो ऐसा होते हुए ये आत्मा के लिए भूत भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञाता बनता है तो परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मन इस प्रकार का रहे हम भी स्वयं प्रयत्नशील हैं और महर्षि लिखते हैं वह आपके वश में ही है ये मन परमात्मा ने हमें दिया है हमारा वो साधन है लेकिन एक दृष्टि से वो परमात्मा के वश में है परमात्मा ने उसको जिस ढंग से बनाया और परमात्मा उसको जिस तरह परिवर्तित करना चाहता है कर सकता है वो परमात्मा के नियंत्रण में तो है ही जैसे समस्त कार्य जगत परमात्मा के नियंत्रण में है ऐसे मन भी परमात्मा के नियंत्रण में है और इसी कारण हमारी इच्छा के अनुरूप वो कार्य कर पाता है हम जैसा चाहते हैं उस तरह का कार्य वो करता है तो परमात्मा के वश में है और हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको आप हमारे वश में यथावत करें परमात्मा का सहारा लेने पर ही हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं और परमात्मा से हम ये चाह रहे हैं कर्म के फल के रूप में कि हमारा मन ऐसा रहे उसमें ऐसे ही संस्कार उभरे जैसा मैं चाहता हूं अन्य संस्कार ना उभरे जिससे कि मैं अन्य तरफ गलत तरफ चला जाऊं तो महर्षि ने इसमें लिखा जिससे हम कुकर्म में कभी ना फंसे और सदैव विद्या धर्म और आपकी सेवा में ही बने रहे यदि मन पर परमात्मा के अनुरूप नियंत्रण न हो तो ये प्रथम दृष्टिया जिन विषयों में सुख दिखाई देता है उसी तरफ जाएगा जिस प्रकार से इंद्रियां उसी प्रकार से मन प्राथमिक दृष्टि से ये उसी तरफ जाएगा जो चीजें इनको आकर्षित करती हैं उत्तेजित करती हैं सुख देती हैं तो कुकर्म से बचते हुए तीन बातें महर्षि ने लिखी विद्या धर्म और आपकी सेवा में ही रहे तो विद्या ये ज्ञान हुआ धर्म ये कर्म हुआ और आपकी सेवा में रहे अर्थात उपासना आपकी ही करता रहे इतना महत्वपूर्ण मन उसके लिए हमें बार बार ये सोचना होगा कि ये मेरा मन शिव संकल्प वाला हो मन की चंचलता को देख करके और साधना में मन को रोकने की बात का उल्लेख देख करके अनेक व्यक्ति ये मान बैठते हैं कि मन तो बिल्कुल एक ही स्थान पर टिका रहना चाहिए परमात्मा में ही लगा रहना चाहिए आत्मा में ही लगा रहना चाहिए बाहर के किसी विषय में नहीं जाना चाहिए ऐसा कोई कर नहीं सकता दिन भर के व्यवहारों को देखेंगे तो पूरे दिन में ऐसा कोई नहीं कर सकता और ऐसा कोई करे तो उसका जीवन भी नहीं चल सकता जब परमात्मा पे टिकाना है तो परमात्मा पे टिक सके आत्मा पे टिकाना है तो आत्मा पे टिक सके और जब व्यवहार कर रहे हो तो बाहर के विषयों के साथ भी वो संबद्ध हो सके उसी विषय से जुड़ सके ये हमारे लिए आवश्यक है मन चंचल होते हुए कुमार्ग पर ना जाए कुचेष्टा ना करे केवल यही हमें रोकना है ये बहुत सक्रिय है बहुत बलवान है इसका हमें सदुपयोग करना है ठीक जगह पर प्रयोग करना है और इससे अपना हित साधना है यही इसका नियंत्रण है और उसी के लिए यहां पर प्रार्थना की गई तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु तो चूंकि इस मंत्र में मन के बारे में चर्चा की गई इसलिए इस मंत्र का देवता मन है मन के बारे में ही सारा वर्णन है देवता मंत्र का विषय होता है और इस मंत्र का ऋषि है शिव संकल्प शिव संकल्प शब्द यहां मंत्र में भी पढ़ा है लेकिन जो ऋषि शिव संकल्प है उसका मतलब है जिसके संकल्प शिव हो गए हैं शिव है संकल्प जिसके ऐसा वो व्यक्ति जिसने इस मंत्र का साक्षात्कार किया इसको समझा कि मन गतिशील है और गतिशील रहेगा स्वाभाविक रहेगा हमें उसको केवल शिव संकल्प वाला करना है उसको ठीक रास्ते पे लाना है और परमात्मा की सहायता से लाना है जब परमात्मा का स्मरण रहेगा परमात्मा के आदेशों का स्मरण रहेगा तो ये मन शिव संकल्प वाला धर्मयुक्त बनेगा और निरुपद्रव बनेगा तो कोई भी व्यक्ति जो पहले हो चुके वो ऋषि या वर्तमान के या भविष्य में इस मंत्र का साक्षात्कार करके उसी तरह से अपना ज्ञान बनाते हुए चलेंगे तो वो शिव संकल्प वाले बन जाएंगे और वो व्यक्ति इस मंत्र के दृष्टा कहलाएंगे ऋषि कहलाएंगे तो परमात्मा की कृपा है उसने हमें ऐसा मन दिया और हम अपने मन का ठीक भली प्रकार उपयोग कर सकें ये भाव हमारे मन में सदैव बना रहे मंत्र की भावना रखते हुए ओम का उच्चारण ओ